يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा हम एक ही प्रकार के खाने पर संतोष नहीं कर सकते अपने रब से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की पैदावार साग तरकारी गेहूं लहसुन प्याज दाल आदि पैदा करे तो मूसा ने कहा क्या एक उत्तम चीज को छोड़कर तुम घटिया दर्जे की चीजें लेना चाहते हो अच्छा किसी शहरी आबादी में जा रहो जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा आखिरकार इस दशा को पहुंच गए कि अपमान एवं अपयश और गिरावट एवं बदहाली उन पर थोप दी गई और वे अल्लाह के अजाब में घिर गए ये नतीजा था इसका कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करने लगे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 था कि जो ग्रंथ हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामना और जो आदेश और निर्देश उसमें लिखे हैं उन्हें याद रखना इसी माध्यम से आशा की जा सकती है कि तुम तकवा यानी धर्म परायणता की नीति पर चल सकोगे मगर इसके बाद तुम अपने वचन से फिर गए इस पर भी अल्लाह की कृपा और उसकी दयालुता ने तुम्हारा साथ न छोड़ा वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إن फिर तुम्हें अपनी जाति के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने शब्द का नियम तोड़ा था हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस दशा में रहो कि हर ओर से तुम पर धुतकार फिटकार पड़े इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद की आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा सामग्री और अल्लाह से डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा फिर वो घटना याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय जबह करने का हुक्म देता है कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो मूसा ने कहा मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि अज्ञानियों जैसी बातें करूं बोले अच्छा अपने रब से प्रार्थना करो कि वो हमें उस गाय के बारे में कुछ विस्तार से बताए मूसा ने कहा अल्लाह कहता है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जो न बूढ़ी हो न बछिया बल्कि मध्य आयु की हो अतः जो हुक्म दिया जाता है उसका पालन करो مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون फिर कहने लगे कि अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो मूसा ने कहा वो कहता है कि पीले रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा चटकीला हो कि देखने वालों का मन प्रसन्न हो जाए फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछकर बताओ कैसी गाय चाहिए हमें उसके निर्धारण में संदेह हो गया है अल्लाह ने चाहा तो हम उसका पता पा लेंगे मूसा ने जवाब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 की जान ली थी फिर उसके बारे में झगड़ने लगे और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे थे और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छिपाते हो उसे खोल कर रख देगा उस समय हमने हुक्म दिया कि मारे गए व्यक्ति की लाश को उसके एक भाग से चोट करो देखो इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवन दान देता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो किंतु ऐसी निशानियां देख लेने के बाद भी अंततः तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थरों की तरह सख्त बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी बढ़े हुए क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से स्रोत फूट बहते हैं कोई फटता है और उसमें से पानी निकल आता है और कोई अल्लाह के डर से कांप कर गिर भी पड़ता है अल्लाह तुम्हारी करतूतों से बेखबर नहीं है فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يحرفونه ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم अफला मुसलमानों अब क्या इन लोगों से तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये तुम्हारे आमंत्रण को मान लेंगे जबकि इनमें से एक गिरोह की नीति ये रही है कि उसने अल्लाह की वाणी सुनी और फिर खूब समझ बूझ कर जानते हुए उसमें रद्दो बदल किया ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं और जब आपस में एक दूसरे से एकांत में बातचीत होती है तो कहते हैं कि मूर्ख हो गए हो इन लोगों को वे बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें